तृतीय मंत्र का वाक्य भाष्य थोड़ा बाकी बोधा बोधकर्तृत्व च नित्य बोधात्मनि बोधा बोधकर्तृत्व बोधकर्तृत्व भी औपाधिक है आत्मा में और अबोध अज्ञान आश्रय भी आत्मा में है नित्य बोधात्मा में आरोपित है अब अबोध कर्तृत्व का भी टिप्पणी वर्त किया बोध कर्तृत्व अभाव बोध कर्तृत्व बोधाश्रय तो बोध बोध अभावाश्रय तो दोनों आत्मा में बोधात्मनि नित्य बोधात्मनि ये दोनों आरोपित है तस्माद अन्यद अविदिता अविदिता अन्यद विदित से अन्य अविदित से भी अन्य टीका में तस्माद् विज्ञान अनपेक्षत्वात् अविदितात् अन्यतम सिद्धम विज्ञान अनपेक्ष हे शुद्ध स्वरूप ब्रह्म अविदित से अज्ञान से भिन्न है कथम अन्यत विवक्षायाम अधिशब्द संगच्छते तत्र अतो अविदितात् अधि अधिशब्द कहा गया तो अन्यत्व यदि कहना है तो अधिशब्द कैसे उच्चारण किया गया अधिशब्द कैसे संगत होगा तत्राह अधिशब्दश्च अन्यार्थे अधिशब्द अन्य अर्थक है निपातानाम अनेकार्थत्वात् लक्षणया चेत्यर्थ अध्येय निपात अव्यय निपात अनेक अर्थक होता है तो अन्य अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है लक्षण है ऐसा अनेकार्थक अध्य शब्द अन्यार्थक हो सकता है अथवा लक्षणा से अन्य अर्थ करना यद्वा यद्धि यस्य यस्याधि तत्ततो अन्यत् आदि यथा अधिवृत्ति आदि नाम राजा अथवा ये लक्षणा करने का ये कारण है जो यस्य अधि अधिकात ऊपर जिसके ऊपर है कोई उसे भिन्न है यदि यस्य अधि जो जिसके ऊपर है वह उससे अन्य है आदि तभी तो ऊपर नीचे भाग होगा यथा अधिवृत्त्यादि नाम राजा राजा वृत्ति आदि नाम अधि भृत्य आदि के ऊपर है राजा उनका शासक है तो जो अधि होता है ऊपर होता है वो अन्य होता है इसलिए अव्यक्ताद अधिकांश अव्यक्त से अन्य अर्थ हो जाएगा टीका में अविदिताद अन्यत्वस्य आर्थिकम अर्थमाह अविदित से अन्य है ब्रह्म ये कहा गया उससे अर्थ से क्या सिद्ध होता है आर्थिकम अर्थ शब्द का एक अर्थ होता है एक आर्थिकम अर्थ अर्थ से जो सिद्ध होता है अर्थ शब्द से तो अर्थ हो गया अविदित से भी है उसका क्या अर्थ है तात्पर्य है इसलिए कहा अव्यक्तमेव अविदितम तत्व अन्यदित्यर्थ जितने व्यक्त है विदित तो होते हैं पहले आया था नाम रूप से अभिव्यक्त होता तो विदित तो होगा अव्यक्त हो गया अव्यक्तम अव्यक्त है अज्ञान उसे अन्य है ठीक है मैं विदितम न भवति अविदितम च न भवति ते एकैक निषेधस्य तात्पर्य मुक्त्वा समुदायार्थम आह ब्रह्म विदित भी नहीं विदित का निषेध कर दिया अविदित भी नहीं अविदितम च न भवति एकैक निषेधस्य एक एक का निषेध कर दिया विदित भी नहीं अविदित भी नहीं उसका तात्पर्य कह दिया इसे भिन्न है तो भिन्न कहन से समुदायार्थम आह विदित अविदित दोनों से भिन्न इसका क्या अभिप्राय है विदितम अविदितम च व्यक्त्या व्यक्ते कार्य कारणत्वेन विकल्पिते ताभ्याम अन्यत ब्रह्म विज्ञान स्वरूपम सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम इत्ययम समुदायर्थ समुदाय वाक्य का विदित अविदित दोनों से भिन्न विदित हो गया व्यक्तम अविदित होता अव्यक्तम व्यक्ता व्यक्ते व्यक्त होता है कार्य अव्यक्त है कारण कार्य कारण तो न विकल्पित कार्य कारण रूप से विकल्पित व्यक्त अव्यक्त विदित अविदित ताभ्याम अन्यत ब्रह्म कार्य और कारण दोनों से भिन्न है तो दोनों से भिन्न होता अधिष्ठान कार्य कारण भाव जितने सो कल्पित है अधिष्ठान ब्रह्म है विज्ञान स्वरूपम वह जो विज्ञान स्वरूपे सर्व विशेष प्रत्यस्तमितम सर्व विशेष रहितम निर्विशेष ब्रह्म यही समुदाय अर्थ हुआ कार्य कारण से विलक्षण शुद्ध स्वरूप है शुद्ध ब्रह्म कार्य भी नहीं कारण भी नहीं है कारण तो माया विशिष्ट होकर के ईश्वर जगत कारण माईक शुद्ध ब्रह्म कार्य नहीं कारण नहीं निर्विशेष है अतएव आत्मत्वात् न हेय उपादेय वा और कार्य कारण से विलक्षण अपने से भिन्न ही विदित अविदित होते हैं उससे अन्य कहेंगे तो आत्मस्वरूप है आत्मत्वात् आत्मस्वरूप है स्वयं आत्मस्वरूप अपने द्वारा ना त्याज्य होगा ना ग्राह्य होगा हे होता है त्याज्य वाक त्यागी उपादेय ग्राह्य स्वयं अपने आप का त्याग करे अथवा अपने आप को ग्रहण करे नहीं हो सकता है अन्यद्य अन्यन हेयम उपादेयम अन्यद अन्यन हेयम अन्यद वस्तु अन्यन पुरुष ने त्याज्यम अथवा ग्राह्यम अन्य कोई ग्रहण करेगा अथवा त्याग करेगा भिन्न को नहीं के अपने स्वरूप को न तेनेव तद यस्य कस्यचित हेम उपादेय भवति किसी का भी स्वयं उसके द्वारा स्वयं अपना स्वरूप त्याज्य अथवा ग्राह्य दोनों नहीं हो सकता है यस्य कस्यचित कोई भी सिद्ध पुरुष हो देवता आदि भी हो कोई भी हो अपने आप का अपने आप को कोई त्याग कर दे अपने आप को ग्रहण करना ये दोनों नहीं बनेगा भिन्न का त्याग और ग्रहण होता है इसलिए ब्रह्म स्वरूप हेय नहीं उपादेय त्याज्य नहीं ग्राह्य नहीं आत्मा च ब्रह्म सर्वांतरत्वाद आत्मा ही ब्रह्म सर्वा सर्वांतर अविषय विषय नहीं है किसी ज्ञान का विषय नहीं स्वयं ही दृग रूप सबको विषय प्रकाश करता है अत अन्यस्यापि न हेयम उपाधेय बा अपने आप हेय उपादेय नहीं तो दूसरे को ही त्याग करेगा ग्रहण करेगा वो भी नहीं है क्योंकि सर्वांतर ब्रह्म है किसी का भी विषय न अन्य का भी है त्याज्य अथवा ग्राह्य नहीं होगा अन्य भावाच ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं जो ग्रहण करे अथवा त्याग करे इति सुश्रम धीराणाम इति सुश्रम पूर्वेशाम इति आगम उपदेश ये आगम उपदेश है ऐसे पूर्वेशाम आचार्यों का वचन ऐसा हमने सुना व्याच चक्षिरे इत असातंत्र्यम तर्क प्रतिषेधार्थम ये न तद व्यास चक्षुरे जिन्होंने हमको व्याख्यान कर स्पष्ट कहा था व्यास चक्षुरे ऐसा जो श्रुति में कहा गया है ये किसलिए अस्वातंत्र्यम स्वतंत्र ज्ञान के लिए प्रयत्न करना नहीं आचार्य उपदेश से ही ज्ञान होगा तर्क प्रतिषेधार्थम व्यास चक्षुरे तर्क प्रतिषेध करने के लिए ये भी संग्रह वाक्य है इतसा तंत्रम तर्क प्रतिषेधार्थम व्यास टीका में इतसा तंत्रम तर्क प्रतिषेधार्थम इतेत सूत्रम ये संग्रह सूत्र है इसका विवरण व्याख्यान करते ये नस भाष्य में ये नस तद ब्रह्म उक्तवंतस्ते नित्यमेव आगमम ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यातवंतो न पुनः सबृद्धि प्रभवत्वेन तर्केण उक्तवंत इति आगम पारंपर्या विच्छेदम दर्शयति विद्यास्तुतये येन तद व्याचचिकिरे तद का ब्रह्म उक्तवंत हमको उपदेश किया था जिन आचार्यों ने हमको उपदेश किया था ते नित्यमेव आगमम ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यातवंत ब्रह्म का उपदेश किया तो आगम जो ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य उसका ही व्याख्यान किया था इसलिए गुरु में अभिज्ञ अच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम का ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए श्रोत्रिय भी होना चाहिए शास्त्र ज्ञान संपन्न ब्रह्मनिष्ठ क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ भी उपदेश करेंगे तो शास्त्र के माध्यम से श्रुति का उपदेश करेंगे नित्यमेव आगमम ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यातवंत जिन आचार्य परंपरा से हमने सुना आगम प्रति ब्रह्म प्रतिपादक आगम वाक्य उसका ही व्याख्यान किया था न पुनः स्वबुद्धि प्रभवत्वेन तर्केण उक्तवंत नहीं कि अपने बुद्धि से उत्पन्न होने वाले तर्क से कहा था ऐसा नहीं हाँ, आगम से कहने के बाद संशय दूर करने के लिए तर्क सहायक है श्रुति में भी कहा गया मंतव्यस्य उपपत्ति भी पहले श्रवण करना श्रुति प्रमाण है मुख्य उसके बाद कैसे संभव है उसके लिए तर्क श्रुति अनुकूल तर्क अनुसंधान करने के लिए कहा गया अब बुद्धि प्रभाव में तर्केण केवल तर्क से कहा गया आगम की उपेक्षा करके उठी नहीं ये इसलिए कहा गया श्रुति में भी ये क्यों कहा गया इति सुष्म धीराना ये न तत् व्यास शिक्षिरे आगम पारंपर्य अविच्छेदम दर्शयति आगम पारंपर्य से अविच्छेदम परंपरा से प्राप्त होता है ज्ञान उसका अविच्छेद दिखाते इसी परंपरा से प्राप्त हाँ आचार्य से हमने सुना था आगम वाक्य वो भी आचार्य से सुन करके उपदेश करते हैं ऐसा देखा दी श्रुति किस लिए विद्यास्तुत है ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये अपने आप तर्क से जितने बुद्धिमान होने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता है ज्ञानी गुरु के उपदेश से ही प्राप्त करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा तर्कस्तु अनवस्थित भ्रांतोपि भवति इति क्योंकि तर्क से नहीं होगा क्यों तर्कस्तु अनवस्थितः तर्क में कोई प्रतिष्ठा नहीं अवस्थित नहीं स्थिर नहीं तर्क के द्वारा कोई वस्तु सिद्ध करे कोई सिद्ध करने के बाद कोई दूसरे तार्किक आएगा उसके ऊपर फिर कुछ कहेगा फिर तर्क के द्वारा खंडन करेगा अवस्थित नहीं भ्रांतो भी भवति कभी भ्रांति उसमें दोष है पता नहीं चलता तो ठीक लगता है रघुनाथ श्रवण ने कहा है विदुषाम निवहैर्य कमत्याद यद यद दुष्ट यच्च दुष्टम मयि मयि जलपति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुताम तदन्यथेव कहते विदुषाम निवही विद्वान के समूह परा विद्वान के समूह मिलकर यह ऐकमत्याद एक मत होकर के यद अदुष्टम निरटंकी यच्च दुष्टम जिसको घो, निरटंकी घोषणा की ये निर्दुष्ट है और यह दुष्ट है कोई हेतु में यह निर्दुष्ट हेतु है साध्य सिद्ध करने के लिए और कोई तर्क दुष्ट है दोष युक्त है ऐसा बड़े-बड़े विद्वान मिल करके एक मत हो करके जब घोषणा कर कही ये निर्दुष्ट है और एक दुष्ट है कहते मई जलपति कल्पना अधिनाथ है कल्पना के अधिनाथ रघुनाथ श्रेवणी में जब कहता हूँ तद मनुथाम अन्यथैव जो विद्वान सब मिल करके निर्दुष्ट कहते हैं तो उसी में हम दोष निकाल देंगे और जिसमें कहते दोष है दुष्ट है दोष युक्त है उसको हम निर्दोष सिद्ध कर देंगे तर्क के माध्यम पर इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं कोई तर्क कोई सिद्ध क्या बड़े तार्किक आकर के उसको खंडन करे और कुछ सिद्ध कर देगा इसलिए तर्क के द्वारा नैसा तर्केण मतिरापनेया तर्क गम्य नहीं है आगम परंपरा से प्राप्ति होती भ्रांतोपि भवति कहीं कि भ्रांति जब दोष पता नहीं चलता है तो भ्रांत होता है दोष आगे दोष दिखाएगा तृतीय मंत्र हुआ अभी चतुर्थ मंत्र पहले टीका में उक्त वाक्यार्थे लौकिक तार्किक मीमांसक प्रतिपत्ति विरुद्ध आशंक्य परिहरति विदिता अन्यत्व प्रपंचनाय जो विदिता अविदिताभ्याम अन्यत कहा अन्य देवताद विदिता तथो अविदिता आदि इसी वाक्य के अर्थ में लौकिक प्रतिपत्ति लोक में जैसे प्रतिपति ज्ञान उसका विरुद्ध होता है तार्किकों को जो ज्ञान उसका विरुद्ध होता है और मीमांसक पूर्व मीमांसा के प्रतिपत्ति उनके ज्ञान के विरोध की आशंका करके परिहार करते कोई विरोध नहीं है विदिताद अन्यत प्रपंचना विदित से अन्य है ब्रह्म इसको प्रपंच विस्तार करने के लिए कहते हैं भाष्य में अन्य देव तद अथवा अथ अधित अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते अन्य देव विदिता तद अविदिता अधि विदित अविदित से अन्य अपने से भिन्न कोई विदित ज्ञात अथवा अज्ञात होता है उससे भिन्न कहेंगे तो इस वाक्य से सिद्ध हुआ प्रतिपादन किया गया आत्मा ब्रह्म इति आत्मा ही ब्रह्म क्योंकि अपने से भिन्न ही विदित अथवा अविदित विदित अविदित सन्य होता अपने स्वरूप वही ब्रह्म है आत्मा ही ब्रह्म हुआ ये प्रतिपादन हुआ ये प्रतिपा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादित प्रतिपादन होने पर श्रोतुर आशंका जाता कथं तो आत्मा ब्रह्म श्रोता की आशंका सामान्य लोग जानते ब्रह्म तो कोई दूसरा है लौकिक तर्क लोग कहते जीव अलग ईश्वर अलग है मीमांसा कहते ईश्वर तो मानते ही नहीं अब ब्रह्म कोई होगा तो ब्रह्मा जी कोई होगा तो आत्मा से जीव से भिन्न है ये आत्मा ही ब्रह्म ये कैसे होगा क्योंकि आत्मा जो होता है कर्म करता है उपासना करता है कर्म फल प्राप्त करेगा जीवात्मा और परमात्मा फल देने वाला कोई ब्रह्मलोक में कोई है अलग है आत्मा ही ब्रह्म ये कैसे होगा आत्मा ही नाम अधिकृत कर्मणि उपासने च आत्मा तो ही है जो जीवात्मा जो कर्म में अधिकारी है उपासना में अधिकारी अधिकृत कर्मणि उपासने च कर्म उपासना में अधिकारी कर्म करके स्वर्ग आदि जाएगा उपासना करके देवत्व को प्राप्त करेगा आत्मा होता है संसारी संसारी होने से क्या होगा कर्म उपासना व साधन अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति जो आत्मा है जीव संसारी है संसार दुख में दुख भोग करता है जन्म मरण वाला कर्म अथवा उपासना साधन अनुष्ठान करके कर्म करके स्वर्ग को जाएगा अथवा उपासना करके ब्रह्मादि देवान प्राप्तुमिच्छति ब्रह्मा इंद्र आदि देवत्व को प्राप्त करना चाहता है कर्म करके अथवा उपासना करके ये तो आत्मा है वो कैसे ब्रह्म होगा वो तो कर्म करके उपासना करके स्वर्ग जाना चाहता है देवत्व प्राप्त करना चाहता है और उससे भिन्न है ब्रह्म होना चाहिए उपास्य होता है विष्णु परमात्मा त तस्माद अन्य उपास्य विष्णु ईश्वर इंद्रश्च प्राण वा ब्रह्म भवितुमर्हति न तो आत्मा त तस्माद तद ब्रह्म तद ब्रह्म तस्माद उपासका अन्य वह ब्रह्म आत्मा से जीवात्मा से उपासक से अन्य है क्योंकि वह ब्रह्म तो आत्मा उपास्य है जीवात्मा तो उपासक है उपास्य तो उससे भिन्न होगा जो उपास्य भिन्न होगा विष्णु है वो ईश्वर है उपास्य विष्णु देवता मानते मीमांसक और ईश्वर हुई है विवेष्टि चराचर इति विष्णु चराचरम इति विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर है विष्णु अथवा उपास्य इंद्र इंद्र के लिए आग करते मीमांसक लोग अथवा प्राण उपासना प्राण उपासना कही गई श्रुति में जो हिरण्य हिरण्यगर्भ प्राण ब्रह्मा है ब्रह्मलोक में है यू ब्रह्म होगा वही तुम्हारा थी न तो आत्मा आत्मा कैसे ब्रह्म होगा आत्मा तो उपासक और ब्रह्म है उपास्य उपास्य उपासक भाव तो भेद होने पर होगा अपने से भिन्न कोई ईश्वर विष्णु इंद्र प्राण कोई ब्रह्म होगा विष्णु ब्रह्म हो ईश्वर कोई होगा इंद्र ब्रह्म प्राण ब्रह्म ये कोई हो सकते हैं आत्मा कैसे होगा लोक प्रत्यय विरुद्धात लोक प्रत्यय लोक में भी प्रत्यय समानते ईश्वर में से भिन्न ईश्वर की उपासना करूंगा ईश्वर का ध्यान करूंगा ईश्वर की पूजा करूंगा लोक प्रत्यय विरुद्ध कौन लोक में प्रसिद्ध है मैं अपने ब्रह्म सुन कर कोई कहते तो तो कुछ नहीं जान कर खाली कहते लोक में कौन मानता है इस आत्मा ही ब्रह्म यथा अन्य तार्किका ईश्वराद अन्य आत्मा इति आचक्षते तथा कर्मिण अमु यजा अमु यज इति अन्य एव देवता उपासते जैसे तार्किक है ईश्वराद अन्य आत्मा ज्ञानाधिकरण आत्मा है नित्य ज्ञानवान ईश्वर ईश्वर का नित्य ज्ञान है जीव में अनित्य ज्ञान है ईश्वराद अन्य है आत्मा जीवात्मा अलग दो आत्मा है ईश्वर और जीव जीव भिन्न ईश्वर अलग तार्किक मानते हैं कहते आत्मा इज आतच्छते कहते हैं तथा कर्मी भी कहते हैं अमुम यज अमुम यज अमुक देवता का या करो अम इस देवता की उपासना करो याग करो अन्य एव देवता उपासते अन्य देवता की उपासना करते हैं कर्म करने वाले नहीं कि अपने आप को कोई ब्रह्म मानता है ना तार्किक ना तो मीमांसक ना लोक में कोई मानते हैं तस्माद युक्तम यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत इसलिए जो विदित होता है उपास्य वो ब्रह्म होना चाहिए विदित से अन्य कैसे होगा अपने से भिन्न विदित होता है उपास्य होगा वही ब्रह्म होगा ज्ञान तो हो तो उसकी उपासना करना वही ब्रह्म होना चाहिए तत्व अन्य उपासक और उपासक उससे भिन्न होगा उपास्य होगा ब्रह्म विदित उससे अन्य उपासक ठीक है विदित सन्य तो विदित उपास्य ब्रह्म उससे भिन्न उपासक होगा ये शंका होती लोक में इति ताम एताम आशंकाम शिष्य लिंगेन उपलक्ष्य तद वाक्याद्वाह मेवं सकिष्ठा ये शंका शिष्य की होती है कैसे पता चलेगा शिष्य लिंगेन उपलक्ष्य लिंग है चिन्ह कहने के बाद वो मुख में प्रसन्नता नहीं असंतोष मुख को देख करके पता चल जाता है संतोष नहीं स्वीकार नहीं कर पाता है कोई कहने के बाद हां नहीं बोल सकता है किंतु आश्चर्य हो देता है ये कैसे हो सकता है मुख से पता चल जाता है संतोष नहीं नहीं चाहता है जो कहा उसमें नहीं संतोष नहीं स्वीकार नहीं कर पाता है उसके शिष्य लिंगे न उपलक्ष्य देखते कि ये संतोष नहीं हुआ अर्थात उसमें आशंका है अर्थात तद वाक्यादवा नहीं तो कहेगा ये कैसे हो सकता है गुरुजी ये कैसे आत्मा ही कैसे ब्रह्म होगा उसके वाक्य से अथवा उसके ज्ञापक चिन्ह से जान करके आचार्य कहते मैं एवं संकिष्टा ऐसी शंका नहीं करो क्यों कहे आगे उसका उत्तर श्रुति वाक्य में देते हैं भाष्य यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते यद वाचान अभ्युदितम वाणी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता है येन वाग अभिदते यद यत जो ब्रह्म वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं बल्कि जिसके द्वारा वागी प्रकाशित होती है वाणी से प्रकाशित नहीं वाग पाकर प्रकाशक वाग प्रकाशित होती जिसके द्वारा तदेव तम ब्रह्म विधि उसको समझो ब्रह्म न इदम यदिदम उपासते इदम तेन जो उपासना करते हैं भेद बुद्धि से उपासना करते सोपाधिक वस्तु अपने से भिन्न सोपाधिक जिसकी उपासना करते लोग वह ब्रह्म नहीं है जिसकी उपास्य रूप से भिन्न अपने से भिन्न रूप से जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म तो है जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित है भाष्य में यद चैतन्य मात्र सत्ताकम यद वाचा न विदितम पद का अर्थ क्या चैतन्य मात्र सत्ताकम चैतन्य मात्रम सत्ता यस्य चैतन्य ही उसकी सत्ता सद्रूपता चैतन्य मात्र स्वरूप और कुछ नहीं चिद रूप दिग रूप चेतन मात्र है स्वरूप ब्रह्म है वाचा अनभ्युदितम वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं वाचा सदे वाच शब्द का तृतीयांत वाचा वाग किसको कहेंगे वाग इति जिह्वा जिह्वामूलादिषु अष्टसु तानेषु विशक्तम इंद्रियम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम कर्णम वर्णाश्चर्थ संकेत परिच्छिन्ना एतावंत एवम क्रम प्रयुता इति एवम तद अभिव्यंग शब्द पदम वाग इति उच्यते वाग शब्द का अर्थ करते हैं वागिद जीवामूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम आग्नेयम जीवामूलादि आठ स्थान में स्थित है आठ स्थान उच्चारण स्थान है जीवामूलादि आठ स्थान तर्क तो लघु में आता है कितने स्थान आता है कंठ तालु मूर्धा दंत उष्ट पांच हुआ और तीन जिहामूल्य से जिहामूलम नासिका गए और एक उरस्य अभी कहेंगे अष्टस्थ अष्टस्थ स्थान से विषक्तम आग्नेयम वागेंद्र कर्मेंद्रिय अग्नि का कार्य है आग्नेयम टीका में अष्टस्थ स्थान श्रुति अष्टो स्थानानि वर्णानां उरः कंठ शिरस जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च अष्टौ स्थानानि वर्णाना वर्णानाम अष्टौ स्थानानि वर्णों का आठ स्थान है उरह ये उरह लघु में नहीं उरह कंठ है शिर है मूर्धा जीवामूलम तो है जीवामूल्य से जीवामूलम दंताश्च नासिक ओष्ठो नासिका ओष्ठ स्थान है तालुच नासिका किसका स्थान है नासिका अनुस्वार से अनुनासिक वर्ण का तालु इच्छुस्थानम तालु शिरसान किसका है ऋतु रसाना मुर्धा ये शिर है दंत है तवर तथ ऋतु रसानाम दंता और एक उरस्थान हकारम पंचमे युक्तम अंतस्था विच संयुतम उरस्यंतम बीजानियात कंठम आहुर संयुतम हकारम पंचमेर युक्तम वर्ग के पंचम वर्ण के साथ युक्त जो हकार वर्ग के पंचम वर्ण कौन है यामांगानाना नाम नासिका च यामांगानाना ह के साथ मिला करके या म हम गणा हना अपराहण म में हम न हना हनुते हम हम हना ये सब जितने पंच वर्ण के साथ युक्त अंतस्था विच संयुतम अंतस्थ वर्ण के साथ युक्त यणु अंतस्था य व र ल य ह और य क्या होगा य व तो व र हो तो र र र हराद ल हो तो ला हलाद यदि उच्चारण करते समय किं हनुते लघु में आता है हनुते हन हना हम र हल उच्चारण कर यहां से उच्चारण होगा केवल ह कहें तो कंठ से निकलेगा ह हरे राम ह हरे हरे ह ह कहेंगे तो कंठ स्थान है किंतु ह में र मिलाकर कहो ह्रास ह्रस्व क्या कहेंगे हरा ह्रस्व कहते क्योंकि हिरे कहते हैं हिरे ने ह्र ह्रस्व ह्र कहेंगे तो यहां से निकलेगा ह्रस्व ह्र लव जो बोले तो है ला देती ला देती लग में आया ल व कहेंगे तो हुआ हुआ लेती हुआ ल और व होगा यह होगा तो य किंग यह यह यह कहते ना काल जो चला गया उसको क्या कहते यह हम हाँ, यह रहेगा तो अब पंचमन होगा तो म म न तो हना हना न तो हना हनोते पंचम से युक्त हो यणवन से युक्त हो तो उरस्यम तम बिजानिया तो उरस्थाने छाती से निकलेगा अकंठ्यम आहु रसयुतम यदि इनसे संयोग नहीं है पंचम वर्ण यण के साथ नहीं तो ऐसे हकार का स्थान कंठ है अको विसर्जन नाम कंठ तो उर स्थान हो गया कंठ सिर रहते आठ स्थान हो गया इतेतेषु आकाश प्रदेशेषु आशितम इतनेन आकाश उपादानतुम सुजितम इन एतेसु स्थानेषु आकाश प्रदेश में आश्रित है वाग आकाश उपादान है आग्नेयमिति अग्नि देवता कम अग्नि देवता है वाग से देवता अग्नि है तो आग्नेयम हो गया वाग आठ स्थान में विषक्तम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम करण वर्ण का अभिव्यंजक होता है करण इंद्रिय अभिव्यंजक इसलिए कहते वर्ण को नित्य मानते हैं वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती है मीमांसा का मत के अनुसार वर्ण शब्द नित्य है व्याकरण में भी शब्द नित्य है तार्किक लोक कहते तो शब्द की उत्पत्ति होती है नाश होता है दो प्रकार शब्द है ध्वन्यात्मक वर्णात्मक न्याय मत के अनुसार ध्वनि है ये ध्वनि और वर्णात्मक अ ई उन ख फ छ ठ ये सब वर्ण है इनकी उत्पत्ति होती है ये वाग इंद्र आदि के द्वारा स्थान से वर्ण की उत्पत्ति न्याय मत के अनुसार मीमांसक लोग कहते वर्ण नित्य है व्याकरण में भी वर्ण नित्य है यदि नित्य है तो हमेशा सुनाई पड़े हमेशा शब्द सुनाई पड़ता है तो बोलना जरूरत तो नहीं पड़ता बोलना पड़ता है ना बोलने से ही कोई सुनेगा और आधा बोले आधा नहीं बोले तो पता चलता है नित्य यदि है तो बोलना क्या जरूरत है बस दूसरे को सुनने सुनाई पड़े जो आप सोचो सुन ले हमेशा शब्द सुनाई पड़ता है शब्द नित्य होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए उसकी अभिव्यक्ति होने पर सुनाई पड़ेगा घटत्व नित्य है जाति को तार्किक तर्क मत के अनुसार घटत्व नित्य है नित्य तो सर्वत्र घटत्व दिखता है उसका अभिव्यंजक है घट घट से घटत्व की अभिव्यक्ति होती घट लाए तो घटत्व उसमें दिखेगा घट नहीं तो घटत्व नहीं दिखता है नित्य होने पर भी नहीं दिखता है इसी प्रकार वर्ण नित्य होने पर भी उसका अभिव्यंजक होता है ये वाग इंद्रिय उसके द्वारा कंठ तालु कंठ तालु आदि स्थान है उसे वर्ण वायु आकर के अभिघात शब्द जोर से संयोग होगा तो वर्ण की अभिव्यक्ति होती ये वन्नी दिवालय में वन्नी है क्या अभी दिवालय में वन्नी है दिखते ही वन्नी हाथ स्पर्श करने से गर्म लगता है वन्य हो तो कोई नहीं बैठेगा दीवार के पास सो दीवार के पास बैठना चाहते हैं ना वन्य हो तो गर्मी के समय कोई बैठेगा किंतु हां लोहा कील ठोको अग्नि दिखते हैं नहीं हाथों से पिटो अग्नि है तो प्रकट हुआ अग्नि नहीं तो कहां से आएगा पिटने से इसलिए वन्य वहाँ होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होने से दिखता नहीं अभिव्यक्ति अभिव्यंजक को कोई होता है वर्ण इस प्रकार है किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न करते कंठ कंठताल अभिज्ञात तो सुनाई पड़ेगा शब्द तो ये कंठताल आदि जो वाग आदि इंद्रिय है न्याय मत के अनुसार ये वर्ण का उत्पादक जनक वर्ण की उत्पत्ति होती है ये न्यायिक लोग कहेंगे मीमांसक लोग व्याकरण लोग क्या कहेंगे वर्ण नित्य है तो उसकी उत्पत्ति नहीं उसकी अभिव्यक्ति होती है कंठ ताल अभिघात आप जो प्रयत्न करते क्या करने के लिए वर्ण की उत्पत्ति के लिए नहीं वर्ण की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो प्रयत्न करने से वर्ण की अभिव्यक्ति होती है तो मीमांसक लोग शब्द को नित्य कहते हैं व्याकरण में भी शब्द शब्द नित्य है वेदांती क्या कहेंगे शब्द को अनित्य कहेंगे अनित्य कहेंगे क्या कहेंगे अनित्य कहेंगे अनित्य मतलब न्यायिक लोग अनित्य कहते क्या है शब्द अभी उत्पन्न हुआ प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण में स्थिति तृतीय क्षण में ध्वंस तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम अनित्यत्वम न्याय मत के अनुसार उत्पत्ति स्थिति ध्वंस प्रथम क्षण शब्द उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण रहकर तृतीय क्षण नष्ट हो गया दूसरे शब्द से प्रथम शब्द नष्ट हो जाएगा ये जो शब्द क्या में आपको सुनाई पड़ता है ये जो यहाँ शब्द उत्पन्न हुआ वो शब्द आप नहीं सुनते इसी शब्द के बाद अन्य शब्द उत्पन्न होगा उसके बाद अन्य शब्द उत्पन्न होगा जैसे जल में तालाब में क्या पानी में थोड़ा कुछ पत्थर डाल दिया चार तरफ तरंग होता है फिर तरंग ऐसे तरंग होते होते किनार तक चला जाता है इसी प्रकार शब्द जो उत्पन्न हुआ ये शब्द के बीच तरंग न्याय कदम मुकुल न्याय दो प्रकार न्याय है चार तरफ शब्द होगा फिर सब तरो चार ने सब तरो दस दिशा में चार तरफ नहीं पहले बीची तरंग न्याय में जैसे एक बीच सब तरफ हुआ फिर ऐसे हुआ ऐसे चलेगा कदम न्याय कदम पुष्प है पुष्प में ये छोटा एक रहता है उसमें फिर बड़ा निकला सब तरफ निकल जाएगा दस दिशा में फिर दस दिशा में एक शब्द से दस शब्द उत्पन्न होगा प्रत्येक शब्द से फिर दस शब्द प्रत्येक से दस शब्द ऐसे उत्पन्न होते होते आपके कान में जो शब्द उत्पन्न होता उसको आप सुनते हो ये शब्द कोई नहीं सुनता ये शब्द तो ही नष्ट हो गया ये नायक लोग बताते शब्द एक शब्द के बाद दूसरा उसके बाद तृतीय ऐसे उत्पत्ति होते होते शब्द फैल जाती है और आप जो सुन लिया उसके बाद शब्द भी आगे आगे चलता है चलेगा तो नहीं आगे शब्द की उत्पत्ति आगे शब्द की उत्पत्ति वहाँ वैज्ञानिक लोग कहते शब्द चलता है शब्द की गति बताते हैं नायक लोग कहते गति नहीं एक शब्द के बाद अन्य शब्द उत्पन्न होता अन्य शब्द उत्पन्न होता शब्द उत्पन्न होने से जैसे तरंग उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा ऐसे लगता है चला गया ऐसे शब्द चलता है तो अभी जो शब्द आपने सुन लिया उसके बाद लगता है शब्द नहीं रहा किंतु शब्द चलता रहता है इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग प्रयास करते दूर दूर तक शब्द पहुँचा होगा पहुंचा मतलब उसके बाद शब्द उसके बाद शब्द उसके बाद शब्द इसलिए आकाश में शब्द अभी सूक्ष्म रूप से है उसको पकड़ना चाहते हैं गीता का उपदेश भगवान ने किया था ना वो शब्द अभी कहीं ना कहीं दूर पहुंचा होगा कहीं है उसको शब्द आकाश में है तो शब्द उत्पत्ति से नष्ट इसे तार्किक लोग को कहते हैं वेदांती ऐसा नहीं मानते हैं ऐसे क्षणिक नहीं मानते हैं किंतु जैसे मीमांसक लोग व्याकरण लोग शब्द को नित्य कहते हैं वेदांती नित्य कह सकते हैं एक ब्रह्म को छोड़कर अब कितने नित्य वेदांत में कुछ भी नहीं इसे शब्द को नित्य नहीं कर सकते तो फिर शब्द क्या होगा अनित्य अनित्य ये दोनों से विलक्षण महाते वेदांती आकाश को तार्किक लोग नित्य कहते हैं वेदांत लोग नित्य मानेंगे आकाश की उत्पत्ति सृष्टि काल में हुई हुई आकाश अभी है प्रलय काल तक रहेगा इसी प्रकार सृष्टि काल में वेद की उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति होती है वो शब्द रहता है प्रलय होने तक तो शब्द अभी जो शब्द उच्चारण भाषा काल वो शब्द अभी भी है सृष्टि काल से लेकर प्रलय काल तक शब्द रहता है तो मीमांसा के अनुसार नित्य जैसे ऐसा नित्य है सृष्टि काल से लेकर प्रलय काल तक जैसे आकाश को नित्य कहते तार्किक लोग किंतु वेदांति के अनुसार आकाश की उत्पत्ति होती सृष्टि काल में प्रलय काल में प्रलय हो जाता है इसी प्रकार वेद की उत्पत्ति सृष्टि काल में प्रलय काल में नाश तो इसी प्रकार उत्पत्ति काल से लेकर प्रलय काल तक शब्द रहता है तो रहने पर भी सुनाई नहीं पड़ता है तो वर्ण की अभिव्यक्ति ये इंद्रिय के द्वारा होती है तो वेदांत मत के अनुसार भी वर्ण की अभिव्यक्ति होगी उत्पत्ति तो सृष्टि काल में हुई थी प्रलय काल तक रहेगा शब्द और मध्य में सुनाई नहीं पड़ता क्यों उसकी अभिव्यक्ति के लिए उच्चारण करेंगे तो अभिव्यक्ति होती है इसलिए दिया वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम कर्ण इंद्रिय वाग इंद्रिय वर्ण का अभिव्यंजक उत्पादक नहीं है व्याकरण मीमांस पूर्व मीमांसा और वेदांत तीनों के मत के अनुसार वाग इंद्रिय शब्द का उत्पादक नहीं है अभिव्यंजक कर्णम तो वाग शब्द से केवल कर्ण लेना इंद्रिय को लेना कहते केवल इंद्रिय नहीं वर्णाश्च वर्ण को भी लेना वाग अर्थ संकेत परिच्छिन्ना अर्थ का संकेत शक्ति अर्थ के साथ शब्द का संबंध अर्थ संकेत से परिचिन्न विशिष्ट शक्ति विशिष्ट वर्ण लेना शक्ति वाले घट है के शब्द वर्ण है घ ट विसर्ग अर्थ संकेत विशिष्ट कैसे अर्थ संकेत विशिष्ट होता है एतावंत एवं कर्म प्रयुता इतेवम एतावंत राजा में जितने वर्ण है जा रा इतने वर्ण है है ना नहीं पिक कॉपी और पिक हाँ कॉपी हां पिक दोनों में वर्ण समान है किंतु आगे पीछे है ऐसे कोई शब्द है जरा राज जरा राज ये भी समान सब वर्ण होने पर भी वर्ण क्रम विलक्षण है इसलिए इत एतावंत इतने वर्ण एवं क्रम प्रयुक्ता इसी क्रम से युक्त होने पर इत एवं ये होते अर्थ संकेत परिचना वर्ण भी लेना इतने वर्ण इतने इसी क्रम से प्रयोग होने पर इस अर्थ का वाचक होते हैं इत एवं इनको भी लेना वाग शब्द से इंद्रिय लेना और वर्ण शब्द को लेना इंद्रिय और वर्ण शब्द रहने से इतवं तद अभिव्यंग्य शब्द पदम पहले वर्ण का उच्चारण करते हैं वर्ण के द्वारा पद की अभिव्यक्ति होती है व्याकरण लोग कहते हैं स्फोट रूप से वाक्य स्फोट सूक्ष्म रूप से रहता है पद भी रहता है वर्ण के द्वारा पद की अभिव्यक्ति होती है तो वर्ण हुआ तद अभिव्यंग्य शब्द वर्ण के द्वारा अभिव्यक्त होती पद की जो शब्द अभिव्यक्त होता है उसको पद को भी वाग शब्द से कहते वर्ण वर्ण अभिव्यक्त पद वाग ये शब्द शब्द भी लेना टीका में इत्येतेषु आकाश प्रदेशेषु आश्रितम इत्यनेन आकाश उपादानत्वम कह दिया शब्द का आग्नेयम अग्नि देवता का न केवलम कर्णवाग उच्यते वर्णाश्च उच्यन्ते इत्याह वाग शब्द से केवल इंद्रिय नहीं वर्ण भी कहे जाते हैं वर्णाच तदुक्तम यावंतो यादृशाये च यदर्थ प्रतिपादकाः वर्णः प्रज्ञात सामर्थ्यास्ते तथैव अवबोधकाः यावंतो यादृशा ये च वर्णाः जितने वर्ण है यादृशा जिस क्रम से उच्चारण किए गए यावंत जितने संख्या वाले वर्ण जिस प्रकार वर्ण है जिस क्रम से उच्चारण किए गए और वर्ण भी यदर्थ प्रतिपादक कहा जिस अर्थ के प्रतिपादक होते हैं वर्ण वर्ण अर्थ का प्रतिपादक कैसे प्रज्ञात सामर्थ्या प्रज्ञातम सामर्थ्यम येषां वर्णानां ते वर्णाः प्रज्ञात सामर्थ्या सामर्थ्य शक्ति उनकी शक्ति ज्ञात हो तभी तो अर्थ का बोधक होंगे वर्ण मिल करके किसी अर्थ का बोधक होते हैं जिस क्रम से उच्चारण किया जाए जितने वर्ण कोई वर्ण कम हो जाएंगे तो अर्थ का बोधक नहीं होगा सारे वर्ण मिल करके अर्थ को जिस अर्थ में उसकी शक्ति ते तथैव अवबोध का ते वर्ण है ऐसे ही उस अर्थ का उसी क्रम से इतने वर्ण कहेंगे तो उस अर्थ का अवबोधक ज्ञापक है जितने वर्ण है सब वर्ण ठीक उच्चारण करेंगे तो उस अर्थ का ज्ञान होगा इसलिए मंत्र आदि उच्चारण जप करते समय जैसे वर्ण जितने हैं ठीक-ठीक उच्चारण करे तो उस अर्थ का बोध होगा और उसको नहीं करके अलग उच्चारण करे गलत उच्चारण करे तो उसे अर्थ का ज्ञान नहीं होगा श्री राम जय राम जय जय राम कहते जय जय जय शब्द कहाँ से आया श्री राम राम कैसे राम है अदंत है हाँ बोलते समय अपभ्रंश शब्द प्रयोग करते हैं लोक में समझ लेते हैं वो बात अलग किंतु शब्द क्या है राम संबोधन करेंगे हे श्री राम आगे क्या है जय क्या है जय जय गंगाधर हर बोलते हैं ना जय वो जय है हे राम जय जय कहाँ का रूप है लोट लकार में हे राम जय तुम जय इसे कहना चाहिए श्री राम जय राम जय जय राम जय जय को क्या करते जय जय राम भारत माता की जय जय कहते जय नहीं जय श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा बोलना चाहिए किंतु उच्चारण करते अलग प्रकार और नमः शिवाय का नमः शिवाय कहेंगे बहुत लोग कहेंगे नमः शिवाय शिवाय नहीं आता है क्या बोलेंगे शिवाय नमस्तनंताय नमस्तनंताय को क्या बोलते हैं नम कोई तो नमस्तनंताय को नमस्तनंताय बोलते हैं अनंत को क्या बोलेंगे अनंत में न को हल कर दें तो नमस्तनंताय अनंताय को क्या बोलते हैं नमस्तनंताय अंताय नहीं अनंताय स्पष्ट उच्चारण उच्चारण वर्ण का होना चाहिए प्रज्ञात सामर्थ्य ते तथैव बोध का जिस वर्ण जिस प्रकार जितने वर्ण है सब वर्ण श्री राम जय राम का अ को छोड़ दिया अ को छोड़ देंगे तो अर्थ का ज्ञान अर्थ नहीं बोध होगा इसलिए मंत्र उच्चारण करते समय जप करते समय ठीक-ठीक उच्चारण करना चाहिए नमः शिवाय नमो नारायणाय क्या बोलते हैं नमो नारायण <laughs> नमो नारायण नारायण नहीं नारायणाय क्या कहना चाहिए नमो नारायणाय चतुर्थी भी होती है नम के योग में चतुर्थी होती नमः शिवाय नमो नारायण नारायण नारायण भी नमो नारायणाय नमः शिवाय कोई कहे नमो शिवाय कर देते हैं स के पहले नमो होगा क्या नमो नारायण में तो नमो है शिव कहते के पहले भी नमो कह देते हैं नमः नमः शिवाय ऐसे वर्ण मंत्र उच्चारण करना चाहिए ठीक ठीक उस तव्य अर्थ का अवबोधक होता है गौरिति पदम गौरु गौहु एक पद है गौहु एक पद में क्या बने गकार औकार विसर्जनिया गकार औकार विसर्जनीय तीन वर्ण है गौरिति लिखते समय आगे इति होने से र हो गया विसर्ग नहीं रहा क्योंकि र को ही विसर्ग होगा खर पर में हो अवसान हो पर में अवसान में हो तो ई पर मन से खर नहीं अवसान नहीं गौ रीति हुआ किंतु वह पद क्या है प्रथम एक वचन गौ हो गौ रीति पदम गकार ओकार विसर्जन्या एवं क्रम विशेष आवचना इसी क्रम विशेष से उच्चारण करेंगे तो अर्थ होगा आगे पीछे करेंगे तो नहीं होगा इति मीमांसक आदि अनुसार ने उत्तम मीमांसक अनुसार से कहा ये वर्ण पद उच्चारण और व्याकरण में क्या कहते हैं पद का ही अभिव्यक्त होती वर्ण के बाद स्फोट स्फुट्य आज स्फोट का अर्थ दिया आगे स्फोटवादी अनुसार न तद अभिव्यंग्य शब्द स्फोटवादी व्याकरण है उनके अनुसार कहते तद अभिव्यंग्य शब्द वर्ण के द्वारा अभिव्यक्त होती शब्द की स्फोट क्या है स्फुट्यते वज्यते वर्णेरिति स्फोट पदादि बुद्धि प्रमाणक स्फुट्यते इति स्फोट स्फुट विकसन स्फुट्यते इति स्फोट स्फुट्यते कहते व्यज्यते अभिव्यक्त होता है किसके द्वारा वर्णे ही वर्ण के द्वारा अभिव्यक्त होता है स्फोट वर्ण से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है स्फोट गौ एक स्फोट है कैसे पता चलता है स्फोट कोई लोक में तो स्फोट का नाम से कोई सुने नहीं पदादि बुद्धि प्रमाणक पदादि बुद्धि प्रमाणम यस्मिन गौरित एकम पदम बुद्धि होते ना नहीं गाम आनयत एकम वाक्यम बुद्धि होती बुद्धि ये प्रमाण जिसमें तो गौ गौरित एकम पदम गौ में तो तीन वर्ण है घट कितने वर्ण है पांच वर्ण है घटित एकम पदम एकत्व के छाया तो पांच वर्ण मिलकर के एक पद है एकत्व पांच वर्ण में एकत्व नहीं रहेगा तो पांच वर्ण मिलकर के के स्फोट होता है पद स्फोट स्फोट है तभी एक पद इस बुद्धि हुई एकम गौरिति एकम पदम घट इति एकम पदम एक जो बुद्धि होती पदादि बुद्धि पद बुद्धि वर्ण बुद्धि वाक्य बुद्धि ये प्रमाण है स्फोट में तो स्फोट है सूक्ष्म रूप से रहता है वो उसकी अभिव्यक्ति होती वर्ण उच्चारण करने पर स्फोट की अभिव्यक्ति होती है एक रूपाया बुद्धेर अनेक वर्ण आलंबन तो संभवादिति भाव एक रूप बुद्धि एकम गौरित एकम पदम एक रूप एकत्व प्रकार की बुद्धि बहुत वर्ण में एकत्व कैसे रहेगा इसलिए एक रूपा एक रूप मतलब तो एकत्व प्रकार का जो बुद्धि है अनेक वर्ण अवलंबन तो असंभव अनेक वर्ण को अवलंब आश्रय कर नहीं सकता है एकत्व तो एक में रहेगा संख्या एकत्व संख्या अनेक वर्ण में तो बहुत संख्या रहेगी एक गौरित एकम पदम कैसे बुद्धि होगी इसलिए गौ एक पद है जो वर्ण के द्वारा अभिव्यक्त होता है उसको स्फोट कहते हैं उक्ते वाक्यार्थ श्रुति सम्मति माह ये जो वाक्यार्थ कहा वर्ण शब्द से वाक शब्द से इंद्रिय लेना और पद वर्ण लेना ये श्रुति कहते अकारो वे सर्वावाक शेषा स्पशांत स्तोष्म वीर व्यज्यमाना बहि नाना रूपा भवति श्रुते अकार भी सर्वावाक सारे वाक तो अकार ही है अकार प्रधान ओंकार में कितने वर्ण है अ उ म उसमें अ प्रधान वर्ण से अकार भी सर्वावाक में अकार प्रधान ओंकार ओंकार से उपलक्षित स्फोट स्फोट रूप ब्रह्म है व्याकरण में कहते हैं स्फोट तो ब्रह्म ही है चिद्रूप चेतन स्फोट सूक्ष्म उसका ही विवाह विकार परिणाम होता है सारा वर्ण सारा जगत ब्रह्मस्फोट सूक्ष्म है अकार भी सर्वाभा सौभा का मूल अकार शेषा स्पर्शांत उसमें भी व्यज्यमान स्पर्शांत अंत स्पर्शवन कौन है कादम आवसा स्पर्श अंतस्थवन कौन है याणु अंतस्था उष्मवन शल उष्मा स्पर्श अंततः उष्मादि वर्ण के द्वारा व्यज्यमान अभिव्यक्ति होती है वाक वही हो जाती नाना रूप भवति वाक इति श्रुते अनेक प्रकार वर्ण हो जाती है दे दिया टीका में अकार भी सर्वावा का क्या अर्थ अकार प्रधान ओंकार उपलक्षिता स्फोटाख्या चीज शक्ति सर्वावाक अकार प्रधानम यस्मिन् तद अकार प्रधान ओंकार ओंकार से उपलक्षित स्फोट आख्या चित शक्ति स्फोट नामक जो चित शक्ति चेतन है चेतन की चित शक्ति का सर्वाभाक वही सर्वाभाक है ये शुद्ध दृग रूप चेतन है वही सर्वाभाक सैसा स्पर्शांत स्पर्शांतस्थ उसमें भी व्यज्यमाना स्पर्श अंतस्थ और उसमें कादयो मावसाना स्पर्शा का से लेकर म तक कितने वर्ण हो जाएंगे यरलवा अंतस्था अंत अंतस्थ यरलव स स स ह उस्मान तेहि क्रम विशेष अवचिन्नम अवचिनेर व्यज्यमाना नाना रूपा विवर्तते विशेष क्रम से युक्त होकर के अभिवत होकर के नाना रूप हो जाते हैं ब्रह्म का विवर्त है जगत कहते हैं स्फोट रूप ब्रह्म का विवर्त सब शब्द है इसमें अलग-अलग है ऋग यज साम आदि है भाष्य में दिया मितम अमितम स्वर सत्यानृतेव विकारो यस्यास्तस् तया वाचा पदत्वेन परिचनया कुर्ण करण गुणवत्या अनभिदितम यद वाचा अनभिदितम उसमें मितम अमितम स्वर इत्यादि मितम मितम अमित क्या है टीका में दिया मितम ऋग आदि ऋग आदि में मंत्र को मित कहते हैं पादावसान अक्षरत्वात ऋग शब्द वेद का नाम है ऋग साम ऋग शब्द मंत्र का भी नाम है ऋग वेद में केवल ऋग मंत्र ही रहेगा कोई जरूरी नहीं है ऋग वेद में यजुरूप मंत्र भी है साम भी ऋग है ऋग एक मंत्र का नाम है ऋग वेद का भी नाम है यहाँ जो मित में ऋगादि का है ऋगे मंत्र का नाम ऋगादि पादावसान नियताक्षर होता है तो पाद अवसान पाद की समाप्ति में नियत अक्षर जैसे श्लोक होता है अनुष्टुप छंद है अलग-अलग छंद है पाद अवसान नियत अक्षर वाला श्लोकात्मक मंत्र को ऋग कहते हैं एक पाद में जितना अक्षर दूसरे पाद में इस अक्षर इसे रह करके नियत अक्षर होगा उसको ऋग कहते मंत्र यजुर्वेद में ऋक मंत्र रहेगा सामवेद में ऋक मंत्र रहेगा रहेगा मंत्र ऋक जिस श्लोकात्मक मंत्र उसको ऋक कहते हैं ऋक मितम परिमित सीमित निश्चित है अमितम यजुरादि अमित यजुरादि क्या है यजु वाक्यात्मक जो मंत्र जो वाक्य है कोई पाद श्लोक नहीं अन्यत अक्षर पाद अवसानत्वात वाक्य में प्रथम वाक्य में जितने शब्द वर्ण रहेगा द्वितीय वाक्य में से कम ज्यादा हो सकता है या बराबर होगा उसमें कोई नियम नहीं है अनियत अक्षर उपाद अवसान से यजु कह जाते हैं गद्यात्मक वाक्य रूप मंत्र को यजु कहते हैं ऐसे यजु रूप मंत्र यजुर्वेद में रहेगा ऋग्वेद में सौ में रहेगा यजुर मंत्र है स्वर साम आगे का मितम अमितम स्वर साम को स्वर कहते हैं साम स्वर क्योंकि गीति प्राधान्यत गीति प्रधान है ऋचा श्लोक में साम को आरूढ़ करके गान करते हैं गीति है ऋचा श्लोक में आरूढ़ साम वो साम आत्म मंत्र ऋचा में आरूढ़ होकर के गान किया जाता है ये मितम अमितम सर सत्यानृत्य वे विकार सत्य और अनृत जिसका विकार सत्यम दृष्टार्थ वचन सत्य जैसे दिखा दृष्टार्थ से कथन सत्यम जैसे दिखा ऐसे कहना सत्य है अन्यतम तद विपरीतम देखा एक प्रकार दूसरे प्रकार का तो मिथ्या है सत्यानितेव विकारो कार्य यस्य तस्या वाच पदतन परिचना करण गुणवत्या आगे है रे ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि